लख सने सुने बचन बिनीता जनक प्रियागह पाय पुरीता देवी उचित विनय तुम्हारे दशरथ घरिणी राम महतारी प्रभु अपने ने चहु आगर हे अगिन धो गिरी सिर तन धर हे सेवक करम मन बाने सदा सहाय भवानी कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा हे देवी आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं अग्नि धुएँ को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं रौरे अंग जो गुजग को है दीप सहाय के कर सो है राम राज बने सुर काजो राम राज बनो सुर काजो अचल अवधपुर करि हैराजो राम सुख अमरनागनरमबुबल हे अपने थल यह सब जाग मलिक कहराखा रे बिन होई मुदा मुदा बुरे मुनिधा आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे यह सब याज्ञवल्क मुनि ने पहले से ही कह रखा है हे देवी मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता अस कह पग परे प्रेम सियहित बिनय सुनाए सिय सबेत सियमातु तब चले सुवाय सुपाय ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली प्रिय पर जन हे मिले बैदे जो जय जो गो भजते ते ते तापस बेस जान के देखे भाषब बेकर विषाद विषय जनक राम गुरु आय थल हे सिय देख निय उर के पाहुनि पावर प्रेम प्राय जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिले जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की आहुति पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उर उम अम बुध अनुरागो भय भूप मनो मन गो श्रिय सनेह बटु बाढत राम प्रेम शिष सोहा जेवे मुने ज्ञान विकल जनो लहे वो बालयवरम बनो हम गणमति नहीं विदेह के महिमा से रघु बरसने के उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा राजा का मन मानो प्रयाग हो गया उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मारकंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते नानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया सिय पितु बस सके समारे धरणी सुता धीरज वो समौ सुधर मुबिचार पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया